Oh. अध्याय बहत्तर नंबर के श्लोक तक तो विचार हो गया जिसमें संपूर्ण उपदेश करने के पश्चात भगवान ने पूछा क्या तुम्हारा तुमने कुछ सुना और तुम्हारा अज्ञान क्या कुछ नाश हुआ ये दो प्रश्न है भगवान का कच्चित तरछुतम का अर्थ तो एक तो एकाग्र एकाग्र चित्त के द्वारा तुमने इस उपदेश को सुना यदि उपदेश सुना होगा तो अज्ञान नाश होना चाहिए कच्चित अज्ञान समूह अज्ञान जन्य मोह मैं मेरे तमा बुद्धि मैं इनके हूं मेरे ये हैं ये बुद्धि ये गुरुजन मेरे हैं मैं इनके हूं इत्यादि बुद्धि यानी मैं मेरापन होता है अज्ञान जन्य मोह तो इसका नाश हुआ गीता सुना हो तो नाश होना चाहिए ये प्रश्न भगवान ने किया हुआ है अब अर्जुन उत्तर देता है ठीक है मैं प्रेमो प्रेमोपदिष्ट आत्मज्ञान से इसकी टीका हो गई थी अच्छा शिष्य से उत्तम ग्रहित निष्ठ है यदि शिष्य आचार्य के द्वारा कहा हुआ यदि ग्रहण करना समर्थ नहीं है ऐसे शिष्य को छोड़ देना चाहिए बोलते हैं ये शिष्य से उत्तम ग्रहितुम निष्ठे समर्थ नहीं है जो कहा हुआ ग्रहण करने में समर्थ नहीं सीखे तो तरी तब तम प्रति उदासीन आचार्य सूचितम तब तो आचार्य को उसके प्रति उदासीन भाव लेने अच्छा होगा समझता नहीं है मंदबुद्धि है वो मंदबुद्धि समझता नहीं करके छोड़ देना चाहिए इस शंका आ गई तो कहा नहीं तांत्र आस्था है ये जिस तरह से कहा गया उसे नहीं समझाओ तो प्रयत्न को बदलना दूसरे प्रकार से भी समझाना चाहिए गुरु का धर्म है ये कहना चाहते हैं धर्म आस्था है शिष्य कृतार्थ कर्तव्य शिष्य को कृतार्थ माने प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसा करना चाहिए आचार्य का धर्म ये प्रदर्शित होने कहा ठीक है हम कहते हैं कच्चित यदि कोमल प्रश्न कच्चित अव्यय है मधुर प्रश्न है ये कठोर प्रश्न में नहीं है मधुर प्रश्न है क्या तुमने इसको सुना क्या तुम्हारा अज्ञान नाश हुआ अज्ञान जन्य मोह नाश हुआ मधुर प्रश्न है किम प्रणत क्या तुम्हारा अज्ञान अच्छा किम तमेव व्याचस्ट उसे किम क्या कच्चित का व्याख्या करते हैं किम एतत इत्यादि भाषा में कहा था किम एतत मया उत्तम श्रुतम क्या मैंने जो कहा तुमने वो सुना सर्वण अवधारितम क्या सुन सुनना मैंने सुनकर के या निश्चय किया हे पार्थ किम तो यहाँ एकाग्र कहा एकाग्र चित्त के द्वारा किम तुमने सुना कि मैं प्रमादित हम क्या अथवा आलस्य कर गए हो एक प्रश्न यह है ये कहते हैं दिव्यम किम पदम पूर्व पूर्व से व्याख्यान है समझे या दो बार श्रुतम के ऊपर ही दो बार किम शब्द आ गया भाष्य में मैंने सुना, सुना या तुमने एकाग्रित सुना जो तो एकाग्रित सुना पहले वाले की व्याख्या पहले किम वाले की व्याख्या है दूसरी है जो भाष्य में किम यतत मया उत्तम श्रवण अवधारितम इत्यादि जो कहा उसी की व्याख्या के रूप में किम त्वया एकाग्रित एकाग्रचित चित्ते न किम प्रमादित एकाग्रित तुमने सुना अथवा प्रमादित प्रमाद कर गया यही है कच्चित यदि प्रश्न में कच्चित अज्ञान समूह द्वितीय प्रश्न है उसका विभाजन करते हैं किम प्रनष्ट इत्यादि क्या तुम्हारा अज्ञान जन वह विशेष रूप से नाश हो गया ठीक है हमें कहते हैं आगे मोह प्रणाश से प्रसंग दर्शन मोह का नाश होने का प्रसंग दिखाते हैं जिसके लिए मेरा परिश्रम तुम्हारा भी परिश्रम सुनने में परिश्रम तुम्हारा बोलने में परिश्रम मेरा किसके लिए था ये मोहनाश के लिए था क्या सफल हुआ तुम्हारा मोहनाश हुआ हो मेरा प्रयत्न भी सफल हो गया तुम्हारा प्रयत्न भी सफल हो गया यही कहते यदर्थो यम शास्त्र श्रवण आयास तब तुम्हारा जो शास्त्र के श्रवण में आयास परिश्रम जिसके लिए अब ममद उपदृष्टित्व तो आयास है मेरे उपदेश उपदेश करने में जो परिश्रम है प्रवृत्त जिसके लिए प्रवृत्त होता परिश्रम कर रहे थे ते क्या नाश हो गया वो तब धनंद कहा क्या नाश हो गया वो मानी सम्मोह जो अज्ञान जन शरीर आदि में आत्मसिद्धि मैं मेरा पन्नाश हुआ ये कहा टीका में कहते हैं प्रेमोपदिष्टा आत्मज्ञान से अज्ञान संदेह विपर्यास रहित पृष्ठ से भगवत अनुग्रह प्राप्ति कथन न भगवंतम परितोषयन परितोषेषम अर्जुनो विज्ञातिवान इत्या प्रेमा उपदिष्ट प्रेम पूर्वक कहा प्रेम के द्वारा भगवान ने कहा प्रियता के कारण इतना उपदेश किया भगवान ने गोपनीय तो बातों को बताया प्रेम के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मज्ञान है क्या बता दिया है आत्मज्ञान अज्ञान संदेह विपेरा से रहित ऐसे आत्मज्ञान कैसा अज्ञान से भी रहित और संदेह से संबंध से रहित और विपरीत बुद्धि से भी रहित आत्मज्ञान शरीर में आत्मबुद्धि विपरीत बुद्धि है हाँ, जो कहा वो है कि नहीं संदेह ये भी नहीं है संदेह भी न हो अज्ञान भी न हो और ब्रह्म ज्ञान भी न हो ऐसा जो ज्ञान होगा पूछा अर्जुन ने यही था शिष्य स्थिर सारी माम प्रपन्न कहा था मैं जो रो रहा हूं नहीं प्रपस्या में ममा अनुद्यादेशों को मुस्लिम षणिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा बसत गम राज्य सुराणाम विचार गद्यम तिपत्या भी कहा था अर्जुन ने मेरे इंद्रियों में जो शोक पैदा हो गया है महापुरुषों को देख करके इनको मार करके मैं कैसे इनके खून से रक्त से सनी हुई धरती को भोग करूंगा ज्ञान एवं हत्वान जी जिसके साथ बोला हुआ है जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते वही सामने है लड़ने के लिए बैठे हैं मैं कैसे मारू मेरे हैं ये और इनके मैं हूं ये भावना हो चुकी है मेरे इंद्रियों में जो शोक पैदा हो गया गांडीरम संसद हस्तात्मक पर प्रथम अध्ययन बोल दिया था मेरे हाथ से गांडी दो गिर रहा है शिथिलता आ गई शरीर में नहीं ये प्रपस्या में ममोपनापन त्याग रहा मैं वो तत्व तो नहीं देखता हूं मेरे जो शोक है इंद्रियों का शोक आया हुआ है उसको कोई हटा सके शोक मुशोषण इंद्रियाम इंद्रियों को शोषण कर रहा है शोषण कर रहा है जो शोक अब आपके भूमा पसंतमृतम राज्य ये केवल इतने के लिए तो क्या सारी भूमि के राज्य मिले अथवा स्वर्ग के मिले कभी ये शोक को दूर नहीं कर सकते ऐसा शोक है मेरे पास ऐसा अर्जुन ने कहा था शिष्य तो स्वीकार किया अंत में निर्णय दिया एक से तब गोविंद मुक्त मुक्तवा बबूफ ऐसे ऐसा बोल दे एवं मुक्त एवं मुक्तो हृषय कसम गुड़ा केश परंतप नवयक्ष गोविंद मुक्त तुष्ट बबू माने चुप हो गया भगवान को ऐसा कह करके मैं नहीं युद्ध नहीं करूंगा यहां तक पहुंचा हुआ है अज्ञान के कारण अपना स्वरूप को नहीं जानने से ऐसा हुआ यही है प्रेमा उपदिष्टा आत्मज्ञान से जो प्रेम पूर्वक कहा गया आत्मज्ञान प्रियता से कहा हुआ आत्मज्ञान कैसा होता है अज्ञान संदेह विपरीत से से आत्मज्ञान से अज्ञान भी न हो संख्या भी न हो विपरीत बुद्धि भी न हो ऐसे आत्मज्ञान पृष्ठ से अर्जुन के द्वारा पूछा था द्वितीय अध्याय में शिष्यत्व स्वीकार करने में आत्मज्ञान को पूछा था भगवत अनुग्रहात प्राप्ति कथन भगवान के कृपा से प्राप्ति का कथन करता है आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो गया कथन है ना भगवंतम परितोषेषण भगवान को संतुष्टि करता हुआ अर्जुन अर्जुनो विज्ञान विद्वान ये विज्ञापन किया अर्जुन ने मैं संतुष्ट भगवान को संतुष्ट और मुझे आत्मज्ञान हो गया मुझे अब आत्मा के विषय में संशय भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है विपरीत बुद्धि भी नहीं है यथार्थ ज्ञान है आपकी कृपा से ये कहा कहना है अर्जुनों वाचक कहा था अर्जुनोवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयच्युत अच्युत गत संदेह करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसादान्मयाच्युत अच्युत गत संदेह करिष्ये वचनम तव शिष्य की कृतार्थता यह है नष्टो मोह मेरा मोह नष्ट हो गया अज्ञान जन जो मोह था मैं मेरा पना शरीर में आत्मबुद्धि अन्यत्र ममता बुद्धि मेरे हैं ये बुद्धि नष्ट हो गई नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्मर ख्याल आ गया अपने बारे में ख्याल आ गया स्वरूप तो पहले से था आत्मा की प्राप्ति तो है नहीं प्राप्त ही है पहले से ही आत्मा केवल मुझे भूल भुलैया खो गया जो अज्ञान था अपने विषय में जो अन्यत्र बुद्धि हो गई थी मैं मेरा बना गया समाप्त हो गया वो बुद्धि समाप्त हो गई स्मृति लब्धा स्मरण प्राप्त कर लिया मैंने मैं यहां स्मृति लब्धा मैंने स्मरण प्राप्त कर लिया याद अपने स्वरूप का याद आ गया मुझे तत्प्रसाद तो आपकी कृपा से आपके जो उपदेश इतने लंबे उपदेश दिया आपने यही कृपा आपकी मया अच्युता मया हे अच्युत स्मृति लब्धा मैंने स्मरण प्राप्त कर लिया अपने ख्याल आ गया मुझे फिर तो उसमें गत संदेह मैं संदेह रहित होकर के बैठा हुआ हूं अपने स्वरूप के विषय में क्यों मैं अपने स्वरूप के विषय में करिष्य वचन तब आपके वचनों का मैं पालन करूंगा ये बोलता आपको तब वचनम करिष्य आपके जो वचन है उसको मैं पालन करूंगा ठीक है भाष्य में कहा नष्टो वह महान अज्ञान तो कैसा मोह मान अज्ञान जन्य वह था कैसा था अज्ञान से उत्पन्न जो मैं मेरा पना अहमता ममता जिसको बोलते हैं शरीर में आत्मबुद्धि हो रही थी मुझे अज्ञान के कारण अहमता और दूसरे में ममता बुद्धि थी मेरे हैं ये मेरा देश मेरा गांव मेरा घर मेरे अमुक मेरे अमुक जाने कितने सारे में मेरे, मेरा मेरा आ जाता है मेरा शत्रु मेरा मित्र वहां भी मेरा मेरा ममता <clears throat> तो नष्टो मोह अज्ञान जा मोह नष्ट समस्त संसार अनर्थ हेतु मोह ये मोह था शरीर में आत्मबुद्धि के कारण मैं मेरा पना आना क्या है संपूर्ण संसार के अनर्थ संसार के अनर्थों का कारण था ये कौन मोह नष्ट वो मोह नष्ट हो गया सागर में दुस्तर है तो मोह को पार करना जैसे समुद्र को पार करना अपने बाहु से जितना दुस्तर होगा पार करना मुश्किल है ठीक इस प्रकार यह मोह को पार करना बड़ा मुश्किल है जो तो मेरा पना मैं मेरा पना अज्ञान के कारण आया हुआ है सागर एवं दुस्तर है तो दृष्टांत है जैसे सागर को पार करना दुस्तर होता है तैरना मुश्किल पड़ता है ठीक इस प्रकार है इसको पार करना भगवान की कृपा से ही कोई पार कर सकता है तब तक पार नहीं कर सकता स्मृति से आत्मतत्व विषय लग रहा स्मृति हो गई मुझे स्मरण हो गया याद आ गया आत्मतत्व आत्मस्वरूप को विषय करने वाली स्मृति आ गई कौन उसको आत्मस्वरूप जो आत्मा का स्वरूप जैसा है ऐसे स्वरूप को ख्याल करने वाली स्मृति आ गई हमारे आत्मा प्राप्ति नहीं बोलते स्मृति हो गई आपका पहले से विद्यमान है अंधेरे में रखा हुआ घर जैसा है जैसे अंधेरे में घट है तो वो क्या प्राप्त है कि अप्राप्त है प्राप्त ही है वो तो उसके लिए क्या टर्च की आवश्यकता पैदा नहीं करना उसको प्राप्ति के लिए जैसे घट बनाने के मिट्टी से घट की प्राप्ति करनी होती ऐसा नहीं हुआ उपलब्धि करनी है उसके लिए प्रकाश चाहिए अंधेरे के घट को उपलब्धि के लिए ठीक है पर आत्मा की उपलब्धि के लिए ज्ञान रूप प्रकाश मुझे अपना स्वरूप का ख्याल आ गया मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई यश्या लाभात सर्वग्रंथाम विप्रोक्ष जिस स्मृति के लाभ से प्राप्ति से लवस प्राप्त हो धातु है जिस स्मृति के आत्म स्मृति के लाभ से सर्वग्रंथी नाम विप्रमुख सारे जो गांठ मैं मेरा पना जो गांठ है संसार में पड़ा हुआ है जड़ चतुर्थी की गांठ बोल ग्रंथि बोलते हैं शरीर में अहमता ये गांठ बांधा हुआ है और अन्यत्र ममता रूपी गांठ है सर्वग्रंथि नाम सारे के सारे जितने गांठ है वे प्रमोक्ष विशेषण प्रमोक्ष सब गांठ खुल जाते हैं समाप्त हो जाते हैं जिसके लाभ से किसके लाभ से आत्मस्व के लाभ से आत्मस्मृति के लाभ से तत् प्रसादात आपकी कृपा से नष्ट हो मोह समृद्ध लौटा रही आपकी कृपा से हे भगवान मैंने स्मृति प्राप्त कर ली मेरा मोह जो था वह नष्ट हो गया मैंने शरीर में आत्मबुद्धि समाप्त हो गई तत्प्रसादात तब प्रसादात यही है तब प्रसादात तत्प्रसादात मया तत्प्रसादम आश्रितन कर मेरे द्वारा प्राप्त कैसे आपके कृपा में आश्रित था मैं तो आपके उपदेश से मेरा विषय चला गया मोह नष्ट हो गया स्मृति या ख्याल आ गया आत्मा के विषय में आपके प्रसाद में आश्रित जो मैं हूं मेरे द्वारा मैं आपका अर्थ कर दिया अनेरा इस वाक्य के द्वारा मोहनाश प्रश्न प्रतिवेदना मोहनाश संबंधी भगवान ने प्रश्न किया कच्चित श्रुतम पार्थ तो हे काग्रण चेतसा कच्चित अज्ञान समूह प्रश्न धनंजय क्या तुम्हारे अज्ञान जन मोहनाश नाश हुआ क्या ये उपदेश सुनने के पश्चात ये मोहना संबंधी प्रश्न था भगवान का और प्रतिवचन अर्जुन का है नष्टो मोहस लबदा तो प्रसादन मैं ये जो दोनों का प्रश्न और उत्तर श्री कृष्ण का प्रश्न है कच्चित अज्ञान समूह प्रसत्य धनंजय और अर्जुन का उत्तर है प्रतिवचन है नष्टो मोहस्य लब्धा तो प्रसादन में अच्युत अनैन मोहनाश प्रतिवचन प्रश्न प्रतिवचन है मोहनाश संबंधी प्रश्न और और मोहनाश संबंधी उत्तर इस दो के द्वारा सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावत एवं निश्चितम दर्शितम होती संपूर्ण शास्त्र का जानने का जो फल है यही है मोहनाश होना क्या सिद्ध होता है भगवान ने प्रश्न किया मोहनाश विषय अर्जुन ने उत्तर दिया मोहनाश विषय मेरा मोह नष्ट हो गया तो इससे क्या सिद्ध हुआ तो संपूर्ण शास्त्रों शास्त्र के विषय को जानने का जो फल होता है इतना ही बस मोहनाश हो जाना क्या है शरीर आदि में आत्मबुद्धि समाप्त होना ये फल होता है निश्चितम दर्शितम होती निश्चित रूप से दिखाया हुआ ये होता है सारे शास्त्रों का जो प्रयोजन इसी में है नाश के लिए प्रयोजन है शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है मोह है उसके नाश संबंधी या प्रश्न भगवान का कच्चित अज्ञान समूह प्रणशत धनंजय नाश संबंधी प्रश्न है अर्जुन ने नाश संबंधी उत्तर दिया नष्टो मोह सर्वशास्त्र कोई भी शास्त्र हो उसके जो विषय होगा शास्त्र जन्य जो ज्ञान होगा उसका फल यही मोहनाश होना शास्त्र से यदि ज्ञान होता हो मोहनाश होना ही फल होता है ये कहा होगा यथा निश्चित करके निश्चित पूर्वक कहा हुआ यही होता है कहा विद्या फलम से असतो निवृत्ति है प्रवृत्ति अज्ञान तदीक्षित फलम ऐसा आया है ज्ञान का फल है अविद्या अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान का फल है प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति में अंतर है शरीरादि में प्रवृत्ति है तो समझना अज्ञान है शरीरादि में आत्म निवृत्त हो गए तो ज्ञान है विद्या फल अवश्यात असत निवृत्ति विद्या का फल असत से शरीरादि जो असत वर्ग है वहां से निवृत्ति होना और प्रवृत्ति अज्ञान तदीक्षित फल में आया है शरीर आदि में जो प्रवृत्ति है वह अज्ञान जन्य फल है जब तक अज्ञान है प्रवृत्ति है ज्ञान होगा तो निवृत्ति है ये यहां बता दिया <clears throat> तो अज्ञान समूह नाशा आत्मस्फुट लावश्य यही है जिसके आगे यही फल होगा मोहनाशी फल होता है जिसके आगे क्या होता है अज्ञान का जन्य मोह का नाश हो जाता है और आत्मस्मृति का लाभ होता है फल होता है समूह शास्त्र पढ़ने का फल क्या होगा अज्ञान से उत्पन्न मोह का नाश और आत्मस्मृति का लाभ आत्मा का ख्याल आ गया यही फल है ग्रंथ पढ़ने का तथा का श्रुत श्रुति में कहा है छांदो की श्रुति सप्तम अध्याय में भोमा विद्या के प्रकरण है आरंभ में नारद जी गए थे अधि भगवो प्रवृत्ति गए समुद्र को संत कुमार दास गए तो सनत कुमार जी ने कहा जितने आप पढ़े लिखे हो उतना मुझे बताओ कहां तक पढ़े हो उसके आगे तो विद्यार्थी को लिया जाता है ना आगे बताऊंगा तो सारे बता दे न जानना कुछ भी नहीं सारे शास्त्र ज्ञान था उनका सब बताया एक आत्मा को नहीं जानते थे बाकी सब जानते थे नारद जी ऐसी स्थिति में ऋग्वेदम वो अध्यामी यजुर्वेदम सारा सारा कोई नहीं हो गया व्याकरण इतिहास पुराण कोई भी नहीं सारा मैं जानता हूं मैं जानता हूं गिनाते गए गिनाते गए आखिर बोले कि सोहम भगवत सोचा में इतना पढ़े लिखे होने के बाद मैं शोक कर रहा हूं सोतम भी भगवत त्रिशे का मैंने आप जैसे लोगों को सुना आप जैसे महापुर सुना है तरत शोकम आत्मवेत्ता आत्मवेत्ता जो होगा शोक नहीं करता किंतु मैं शोक कर रहा हूं इस पर हम्म, ना मंत्र भी देव अस्मी मंत्रों का व्यत्ता ही बना मैं इतने दिनों से पढ़े पढ़े लिखा की ना पढ़े मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं तम माम भगवान भगवान अविद्या संसार पारम तारित इत्यादि है शोक से पारम तारित आप मुझे उसको कृपा करके अविद्या अज्ञान रूप संसार से पार कर दीजिए तब संत और उपदेश करने लगते हैं यही यहां नारद जी का वचन देते हैं कहते हैं तथा जब श्रोता श्रुति में कहा छांदों के श्रुति में सप्तम अध्याय बात श्रोताओं अनाथ भी सोचा मैं नारदी का शब्द था ये मैं आत्मकत्ता नहीं इसे रोक कर रहा हूं मुझे चिंता है पढ़ा हुआ बोल न जाऊं ये भी चिंता है ये ना हो ये भी चिंता है बहुत सारी चिंता से घेरे घिरा हुआ हूं और आत्मकत्ता शोक नहीं करता बोला है आप लोग आप जैसे लोगों को सुना मैंने श्रुति में सुना है छात्र में अनात्मविद सोचा हमें तो से मैं अनात्मवेत्ता हूं आत्मवेत्ता नहीं मैं शोक करता हूं नारद जी का शब्द है ये अज्ञान में सर्वग्रंथि विप्रोक्षक है आत्मज्ञान में वह आत्मज्ञानी संपूर्ण ग्रंथियों का नाश करने वाला साधन है विशेष रूप से विशेष प्रमोक्ष मोक्ष करता कौन आत्मज्ञान सारे ग्रंथ कोई रहने नहीं देगा देहादि में आत्मबुद्धि समाप्त होने के बाद मैं मेरा पना कहीं रहेगा ही नहीं स्थिति है आत्मज्ञान में इतनी शक्ति है तथा हाँ, और मुंडक में भी कहा बात व्यत्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंत चार चाष्य कर्माणी तस्वीर दृष्टि बराबर मुंडकोपनिषद में बात सारा हृदय में जो तो गांठ पड़ी है हृदय वाणी हृदय तो मन में जो गांठ बांधा हुआ क्या गांठ मैं मेरा ये मैं हूं ये मेरे हैं चाहे शत्रु भाव से हो पितृभाव से सारा में मेरा देश मेरा गांव मेरा घर क्या क्या कहां कहां ले जाता पता नहीं तो संबंध दिखाता है तो वहां सारे ग्रंथियों का भेद हो जाता है जितने भी संबंध बनाया था ना सब नाश होता है तस्मिन दृष्टि बराबर है जो परोपी अवरो यस्मात पर सबसे पर, पर संसार के देवता हिरण्य करना उससे वो भी निकृष्ट है जिससे उस तत्व को जानने पर आत्म तत्व को जानने पर सारे ग्रंथि भिन्न छेदन हो जाती है कोई संशय भी नहीं रहेगा उस काल में क्षीयते सर्व संशय क्षीयते चाष्य कर्म इसके जितने कर्म है वो भी समाप्त हो जाएंगे उसी काल में कब तस्मिन दृष्टि बराबर है जो परावर परमात्मा है पर भी अवर होता है निकृष्ट होता है संसार का जो पर है सबसे बड़ा है वो भी जिससे निकृष्ट है उसको देखने पर जानने पर ये सारे तीन काम हो जाते हैं हृदय ग्रंथि विद्यते कर्माणी क्षीयते संशय क्षीयंत इत्यादि और ईशावास्य उपनिषद देखते हैं सप्तम मंत्र में तत्र को मोह का शोक है एक तो मनुष्य है यशमिन सर्वाणी भूतानी भूत बीजानी तत्र को शोक मोह को एकत्व तो मनुष्य ऐसा वैसे बन सकते हैं जिस काल में जिस अवस्था में मान ज्ञानावस्था की बात है यशमिन जिस अवस्था में सर्वाणी भूतानी आत्मा भूत सारे के सारे पाणी आत्मरूपी हो गए आत्मा से भिन्न नहीं हो गए कोई जिस अवस्था में ऐसे हो जाते हैं ऐसा जानने वाला जो होगा तत्र को मोह उस काल में उस अवस्था में उस ज्ञानी में कहां शोक होगा कहां मोह होगा क्यों जहां शोक कर्म था आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं ऐसे दिखा उसने आत्मा ही आत्मा ही अबुध इति भी जान रहा है ऐसा जानने वाला है सबके सब आत्मरूपी हो गए समझता हो उस काल में शोक मोह होना संभव नहीं है आत्मज्ञान काल में इतिच मंत्र वर्ण का ये मैंने ईशावास्य उपनिषद को मंत्र वर्ण बोलते हैं अथा इधानी तो आसन है हाँ, थितो में थितो इसमें गत संदेह करी से उत्तरार्ध है अब इस समय में आपके उपदेश में स्थित हो जो आपने कहा स्वीकार करके बैठा हो अतः इधान तो शासन है आपके तो शासन माने उपदेश स्थित हो आपने जो कहा उसमें स्थित हो सर्वधर्मान इत्यादि जो कहा था आपने सारे धर्मों को त्याग करके मामे कब शरण जब मेरे शरण आओ कहा था मैं उसी में स्थित हुआ गत संदेह कोई संदेह नहीं अब मुक्त संशय ये गपसंध का संशय रहे तो मैं कोई संशय नहीं मेरे में इस विषय में करिष्य वचन दबा आपने जो कहा मैं उस वचन को पालन करूंगा तो क्या है वचन क्या है अहम तत्प्रसादात तो कृतार्थ आपके कृपा से कृतार्थ कृत प्रयोजन वाला हो गया ऐसा मैंने प्रयोजन अब कर्तव्य मेरा कुछ रहा नहीं न मम कर्तव्य मस्ती मेरे में कोई कर्तव्य जब देहात्म बुद्धि में जब तक था अज्ञान जन्य मोह मेरे में सवार था तब तक मुझे कर्तव्य बुद्धि दिखती थी ये करना है वो करना वो करना है अभी अज्ञान जन्य मोह को मैंने हटा दिया आपकी कृपा से अब मेरे लिए कर्तव्य नहीं यही है आपने जो कहा वो मैंने किया यही है आम तत्प्रसादात कृतार्थ मैं आपके कृपा से आपके जो उपदेश दिया मेरे में कृपा करके उससे कृतार्थ हो कृत प्रयोजन वाला हो अब कर्तव्य नहीं रहा गया न मम कर्तव्य मस्ती क्यों मैं आत्मभाव में हूं अभी शरीर भाव में होने पर कर्तव्य था जो अज्ञान जन्य मोह था जब तक तब तक कर्तव्य था अब मेरे कोई कर्तव्य नहीं जो आत्मभाव को बोलता है तो कहां कर्तव्य ये अभिप्राय कहा <clears throat> ठीक है मैं अज्ञान उत्तर से अविवेक से जो शरीर में आत्मबुद्धि है ना अज्ञान से जन्य है मूला ज्ञान से जन्य है अनादि अविद्या के कारण जन्य अभिवेक से नष्टत्व में पड़ते नष्ट हो गया और शरीर में आत्मबुद्धि मेरे नहीं है शरीर में आत्मबुद्धि नहीं तो मैं पना भी नहीं मेरे पना भी नहीं है ये मोह था वो नहीं है समस्त इत्यादि का आदेश हो समस्त अना, संसार अनर्थ हेतु सागर दुष्ट का ये जो अज्ञान जन मोह कैसा था संपूर्ण अनर्थों का कारण था जैसे संसार के समान इसको पार करना सागर के समान जैसे सागर को पार करना मुश्किल है इस प्रकार अज्ञान जन्य मोह को पार करना बड़ा मुश्किल था आपकी कृपा से चला गया स्वयं ज्योतिषी प्रतिशी ब्रह्मणी अविद्या भ्रमण विद्या अपनयति न अवितम प्रकाश है कहते स्वयं प्रकाश आत्मा है उनको अन्य के द्वारा प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है स्वयं ज्योतिष प्रति आत्मा में ब्रह्मणी वो ब्रह्म है वो आत्मा ब्रह्म है अविद्या भ्रम अविद्या का भ्रम होना क्या होना अविद्याजन्य जो भ्रम हो रहा है मैं मनुष्य हूं इत्यादि बना आया अविद्या के कारण विद्या बन उस भ्रम को हटा दे कौन विद्या ज्ञान उसी इसी में काम आता है आत्मा को प्रकाशित करने के लिए नहीं है अज्ञान हटाने में काम करता है वो स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश के ज्ञान की आवश्यकता तो है नहीं अजय में रखा हुआ घर जैसे को तो प्रकाश की आवश्यकता है वो जड़ है स्वयं प्रकाश नहीं है वो किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश है तस्य भाषा सर्वमित जिसके प्रकाश से सारे प्रकाशित हो रहे हैं और उसको प्रकाश करने वाला कोई मिलेगा स्वयं ज्योति से प्रति स्वयं ज्योति और मान प्रकाश परमात्मा उसमें ब्रह्मणी ये जी कहा कर ब्रह्म का अभेद करके बोला ये आत्मा ब्रह्म आत्मा में अविद्या ब्रह्म अविद्या जन जो भ्रम हो रहा है मैं मनुष्य हूं ये मेरे हैं मैं हूं इत्यादि विद्या अपने ज्ञान ही उसका नाश करेगा कौन करेगा ज्ञान विद्या अपने विद्या ही नाश करता हटाता न अभितम प्रकाश है अभी जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हटाता नहीं है ज्ञान होने पर भी न अभिदतम अभिदित ब्रह्म जो होगा प्रकट उसको अज्ञान रहेगा विदित ब्रह्म में अज्ञान हटेगा यदि बत्वा स्मृति लगा का ज्ञान हो गया मुझे मान स्मरण में आ गया कौन सा आ गया पहले अनुभव था आज स्मरण हो गया भूल गया था बीच में स्मृति लाभ है किम से आदव आत्मा के स्मरण याद हो गया तो उसे क्या फल मिलेगा प्रश्न उठा रिजत तरह कहते यश्यालाहाबाद सर्वग्रंथ नाम विप्रोक्ष जिस स्मृति के लाभ से आत्मस्मृति लाभ से क्या होगा सारे जितने भी गांठ बना हुआ था अंतकरण में क्या गांठ मैं मेरा बना मेरे भाई मेरे बहन मेरे पिता मेरे माता ने मेरे कहां का संबंध था इसका सारा नाश हो गया ठीक है मैं कहना है मोहनाशे स्मृति लंबे तो असाधारण कारण वहां मोहन नाश होना स्मृति का लाभ होना मैंने अज्ञान जन शरीर में आत्मबुद्धि थी उसका नाश होना और आत्मा के ख्याल आ जाना इसमें असाधारण क्या तत्प्रसाद आत्मया जो कहा था आपकी कृपा से किसकी कृपा आपकी कृपा आप गुरु हैं मेरे आपकी कृपा से तत्प्रसादात तब प्रसादात तत्प्रसाद में आश्रित है रचित मैं आपकी कृपा में आश्रित था उस मेरे द्वारा प्राप्त हो गया ठीक है वो कहते हैं प्रकृति ना प्रश्न प्रदान या प्रश्न है भगवान का कच्चित अज्ञान समूह प्रश्न धनंजय और उत्तर है अर्जुन का क्या उत्तर है हो महत्व लबदा तो प्रसादाम ऐसा प्रकृति प्रश्न प्रजनय प्रकरण या प्रश्न और उत्तर का है भगवान प्रश्नकर्ता बने हैं अभी और अर्जुन उत्तरदाता बना हुआ है अज्ञान संबंधी प्रश्न है तो अर्जुन कहता है ज्ञान संबंधी देता है अज्ञान नाश हो गया करके बोलता है तो द्वारा प्रश्नोत्तर के द्वारा लब्धम अर्थ प्राप्त हुआ जो विषय उसको बताते हैं अनैन का ये जो प्रश्न प्रतिद्वंदों को अनैन शब्द लिया है अनैन मोहनाश प्रश्न प्रदत्त मोहनाश संबंधी प्रश्न है मोहनाश संबंधी उत्तर इसके द्वारा सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फल एताव संपूर्ण शास्त्र के जो विषय है ज्ञान है फल है क्या विषय ज्ञान यही फल होता है इति निश्चित दर्शित निश्चित पूर्वक दिखाया हुआ यही होता कहा यदुता ज्ञान मोहनाशा आत्मस्वरूप लाभ जिसके आगे ज्ञान होने पर क्या होता है अज्ञान जब स्मरण का लाभ होगा समोह मोह का नाश होगा आत्मा की स्मृति होगी ठीक तो है यदुक्तम स्मृति लंबात अशेषतो हृदय ग्रंथम विप्रवक्ष जो स्थान योग में आया हुआ था हृदय ग्रंथियों का नाश होता है मुंडन में भी था स्मृति प्राप्ति से कहा यदि तत्व प्रमाण तो उसे प्रमाण देते हैं तथा च इत्यादि कहा इसको कहा तथा च सत अनात्म भी सोचामी बोलते नारद जी शोक हम सोहम भगवान सोचामी बोल रहे हैं नारद जी मैं शोक कर रहा हूं इतने पढ़ने के बाद हाँ, न जानते नहीं सारे जानता हूं ऐसी फिर भी एक को नहीं जाना तो श्रुति में सुना है अनात्म सोचामी इति उपनिषद मैं अनात्मविद हूं नारद का शब्द है मैं शोक करता हूं करके आत्मज्ञान में सर्वग्रंथ आत्मज्ञान ही सर्वग्रंथि का शोक मोक्ष करने का कारण है करके सारे शास्त्रों में तात्पर्य निकलता है इत्यादि कहा ठीक है कहते हैं ज्ञानाद अज्ञान तत्कालीन ज्ञान से आत्मज्ञान से अज्ञान और ज्ञान का कार्य मोह शरीर आदि में आत्मबुद्धि नाश होने पर निवृत्त हो स्वतंत्र में भी संवाद है मुंडक श्रुति में भी संवाद करते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि चित्यंते सर्व संशय आदि कहा भगवत ओत अनुग्रह भगवान के का कहे भगवत अनुग्रह भगवान की कृपा से अज्ञान कृत मोहनाशा मोहदाहन अंतरम अज्ञान के कारण से आने वाला जो मोह था तो शरीर आदमी आत्मबुद्धि उसके दाह हो गया समाप्त हो गया अनेकानंतर आत्मज्ञान प्रतिलब्ध है आत्मज्ञान के लब्ध हो गया प्रतिलब्ध हो गया मैंने पा गया स्मृति आ गई तो तदाज्ञा प्रतीक्षा हम अब मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा हूं आपने जो आज्ञा दी है मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि उत्तरार्ध उत्तराधे बोलते हैं हितोषमी का संदेह हाँ, मैं थी तुम संदेह नहीं अज्ञान नहीं मेरे बात करिष्य वचन तब आपने जो कहा वही करूंगा ठीक है तब वचन करिष्य हम इतना तात्पर्य रहा मैं आपके वचन का पालन करूंगा करेगा अर्जुन ने कहा या तो उसके तात्पर्य कहते अहम तो अहम तो अहम तो तो कृतार्थ मैं आपके प्रसाद से कृतार्थ हो गया कोई करना बाकी नहीं रहा मेरा कर्तव्य कुछ रहा नहीं न ममो कर्तव्य में अस्थित मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं जब शरीर बुद्धि में था तभी कर्तव्य थे मेरे सारे मैं शरीर को आत्मबुद्धि करके बैठा था तो बहुत सारे कर्तव्य आ रहे थे अब नहीं है टीका लगाते आगे शास्त्रार्थ समाप्त सती अब शास्त्र का विषय पूरा हो गया माने उपदेश पूरा करने के बाद में अज्ञान नाश हुआ कि नहीं पूछा और अज्ञान नाश हो गया फिर दिखा भी दिया गीता शास्त्र जो उपदेश था पूरा हो गया शास्त्रार्थ समाप्त गीता शास्त्र का जो विषय था पूरा होने पर पूरा होने सती अश्याम अवस्था इस अवस्था में इस संजय के वचन कहां से आया प्रश्न उठता है अब यह संजय के वचन है आगे श्याम अवस्था है शास्त्रार्थ पूरा हो चुका है इस काल में संजय वचन पुत्र भी तो ये संजय का जो वचन आने वाला है अब धृतार्थ को संजय को सुनाते हैं ये कहाँ उपयोगी होगा शास्त्र का अर्थ तो विषय पूरा हो गया ये वचन कहाँ उपयुक्त होगा ये प्रश्न है उसके उत्तर वो कहते हैं परिसमाप्त शास्त्रार्थ शास्त्र का विषय पूरा हो गया अब अथ इधानी अब इस समय में कथा प्रबंध प्रधान कथा का प्रबंध प्रदर्शन के लिए आगे है ये कथा मैंने बड़ी मुश्किल से सुना भगवान के उसको देख करके उस संवाद को सुन करके मेरे मुंडे हाथ खड़े होते हैं इतना कथा है दूसरा जो एकादश अध्याय में जो विश्व का कथन किया था उस रूप को याद याद करके मैं आश्चर्य लगता मुझे इत्यादि ब्यास जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है यदि ब्यास जी मुझे दिव्य चक्षु न देते ये प्राप्त नहीं होना था यह संजय अपने बातें बताते हैं यही है संजयोवाच नित्यहम वासुदेव से पार्थ पार्थस्य च महात्मन संवादमिव मम अस्रौसम अद्भुतम रोपदर्शनम रोपहर्षनम नित्यहम वासुदेव से पार्थ से च महात्मन संवादम मस्रौसम अद्भुतम रूपहर्षण इति इस प्रकार पूर्वोक्त वापस इस प्रकार गीता पूरी हो गई इति इस प्रकार अहम मैंने मैं जो हूं वासुदेव से पार्थ महात्मा पार्थ से भगवान वासुदेव बसंत सर्वाणी वासयति सर्वाणी भूतानी वास सभी भूतों को अपने में निवास देता है वो अपने आश्रय देता है ये लोग वासुदेव कहते हैं भगवान वासुदेव और पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन महात्मा है वो क्षुद्र बुद्धि वाला नहीं है उदार बुद्धि वाला है उस महात्मा अर्जुन का ये दोनों का संवादम ये दोनों का जो संवाद है अठारह अध्याय में जो संवाद है मैंने बाल कथा के रूप में है इमम संवादम इस प्रकार के संवाद पूर्वोक्त संवाद संवाद अस्त्रौषम मैंने सुना अहम अस्त्रौषम मैंने सुना मैंने लुंग लकार का प्रयोग कर दिया उत्तम प्रसिद्ध प्रसन्न अहम अस्त्रौषम मैंने सुना भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के साथ संवाद है मैंने सुना अद्भुत संवाद था आश्चर्य में डालने वाला संवाद था यह कि आज के दिन में भी ऐसे वक्ता ऐसा श्रोता आश्चर्य में डालने वाला संवाद अद्भुतम रोम समय रोमटे खड़ा करने वाले हैं माने हमारे रोम दो प्रकार से खड़े हो जाते हैं हर्षित हो जाते हैं अति भय हो तब भी और अति हर्ष हो तब भी हर्ष के मारे हैं हर्षित तो हम बहुत हर्षित संज्ञा ये कहा है भाष्य में कहा इतम हम इस प्रकार के पूर्वोक्त बातों को इतम करके बोल दिए सारे गीता इस प्रकार हम वासुदेव से पार्थ से तो महात्मा का एक महात्मा विशेषण पार्थ का है और भगवान वासुदेव और पार्थ जो महात्मा उदार बुद्धि वाला है उदार अंतरण वाला है संवादम संवाद इमाम संवादम इस प्रकार का संवाद यथोक्तम अश्रौसम जो पूर्वक तो जो है पूर्व जो कहा हुआ संवाद है माने प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय का संवाद हुआ है ये संवाद अश्रौसम मैंने श्रुतवान अस्मिता का मैंने सुना अद्भुतम यह संवाद अद्भुत था आश्चर्य रूप में डालने वाला था मेरे जैसे व्यक्ति को भी संवाद सुनने को मिला आश्चर्य की बात है अद्भुतम अत्यंत विस्मयकम अत्यंत आश्चर्य में डालने वाला संवाद था ये रोमार्षण रोमांचक रोमांचकर्म कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाले हैं शरीर में सारे हर्ष हर्ष के बारे रोंगटे खड़े कर रहे हैं मुझे मेरे शरीर में रोंगटे हर्षित हो रहे हैं खड़े हो गए ठीक है मैं वासुदेव से सर्वज्ञ से यह संवाद किसका सर्वज्ञ है भगवान उनका और अर्जुन का है अर्जुन महात्मा है और भगवान कैसे सर्वज्ञ है वासुदेव से सर्वज्ञ से सर्वेश्वर से सबके ईश्वर भी हैं कौन वासुदेव सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है और कृतार्थ से भगवान कृतार्थ है उनको कुछ लेना देना नहीं है अप्राप्य कोई है अप्राप्य वस्तु के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति भगवान संपूर्ण विश्व के मालिक हैं कुछ चाहिए ना उनको वो जो बोलेगा सत्य बोलता है जो कुछ न कुछ प्रयोजन होगा बोलने से कुछ लेना चाहता हो तो कुछ इधर उधर करके बोलेगा स्वार्थ हो जाए भगवान को स्वार्थ नहीं क्यों उसके द्वारा कोई लेना नहीं है कृतार्थ है वो कृत प्रयोजन है बोले हैं भगवान ऐसे महात्मा है और दूसरा पार्थ कैसे प्रथा पुत्र कैसा है प्रथा पार्थ से प्रथा सुतस्य कुंती का पुत्र है वो कुंती का एक नाम प्रथा भी है उसका पुत्र है पार्थ अर्जुन से महात्मा ने अक्षुद्र बुद्धि कहा अर्जुन का विशेषण महात्मा लगा मैंने क्षुद्र बुद्धि नहीं है स्थिति इदम मम करो बेती गणना लघुचित उदार चरिता नाम तो वसुधाई का कुटुंब तो वैसे कहा ये मेरा है ये उसका है ये बुद्धि जो होती है ना भेद बुद्धि ये ये मेरा है उसका है ये बुद्धि क्षुद्र बुद्धि वालों का है उदाहरण चरिता उदाहर बुद्धि हो वसुदैव कुटुंबकम सारा संसार वसुधा पूरे से एक ही परिवार मानता है वो ये मेरा ये उसका ये बुद्धि नहीं होती उसकी ऐसा आया है तो <clears throat> ठीक है ठीक है भाई पार्श्वदेव से सर्वज्ञ से सर्वेश्वर से पार्श्वदेव भगवान कैसे सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है और कृतार्थ है कुछ किसी से कुछ लेना नहीं उनको प्रयोजन सिद्ध करके बैठे हैं सिर्फ स्वतः सिद्ध है पार्थ से प्रताशित से जो अंतकुद्धि का पुत्र अर्जुन है वो अर्जुन से महात्मा और क्षुद्र बुद्धि कहा महात्मा है वो क्षुद्र बुद्धि जो हो वो दुरात्मा कृपणात्मा है और क्षुद्र बुद्धि न हो विशाल बुद्धि हो महात्मा सर्वाधिकारी गुण संपन्न से संपूर्ण अधिकारी के गुण है उसमें ऐसा अर्जुन है सम्यंतम वादम सम्यक संवादम सम्यंतम वादम संवादम संवाद दोनों का प्रश्न तक यहां गीता में संवादम गुरु शिष्य भाव है किस रूप से संवाद है गुरु शिष्य भाव से प्रश्न प्रतिभा विधानम क्या प्रश्न और उत्तर के रूप में कथन है किस रूप में है प्रश्न और प्रति प्रतिवेदन माने है उत्तर उसके कथन रूप इमम अनुक्रांतम अद्भुतम कहा ये जो चल रहे जो प्रश्नोत्तर चल रहा था अद्भुतम मान विस्मयकरम आश्चर्य में करने वाले हैं रोमाणी हृष्यंती पुलती भवंती अमेना रोमहर्षम कहते रोमहर्ष में रोम शब्द उपद रख करके हृषु हृष हृष्ट धातु से लुट प्रत्यय हुआ है कहते हैं हर्षण एक विग्रह दे रहे हैं हर्षण बना लिए रोमाणी हृष्यंती मानी पुलकी भवंती माने रोम के खड़े हो जाते हैं अने इसके द्वारा तो इसलिए कहा रोमहर्षण कहा है इस संवाद के द्वारा रोमहर्ष होता है खड़े हो जाते हैं कहा इसलिए रोमहर्षण कहा मान आह्लाद कर्म यही है प्रसन्नता देने वाले है संवाद आह्लाद कर्म प्रसन्नता देने वाला संवाद है यथोत्तम श्रद्वान या जो पूर्वोक्त जो संवाद है यथोक्त संवाद पूर्वोक्त संवाद श्रुतवान अश्मी कहा मैंने सुना ये ये बोल रहे डॉक्टर संजय को रहे संवादम कथम अश्रोशी प्रश्न होता है संजय के पीछे ये जो अति जो सुंदर प्रसंग था संवाद था कैसे तुमने सुना कैसे सुना तुमने असम असरसी लोग लगा पद्म परिचय का कैसे सुना तुमने ये तप रहा ताम का से की कृपा से नहीं सुना नहीं तो मैं कहां सुनता मैं यहां हस्तिनापुर में हूं युद्ध होने वाला कहा कुरुक्षेत्र में कहां सुन सकता हूं प्यासी की कृपा सुनता ये कहते हैं तम से इमम संवाद वो जो संवाद संवाद है भगवान कृष्ण का अर्जुन का संवाद व्यास प्रसाद श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम योगम येश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं व्यास प्रसाद श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथत स्वयं व्यास प्रसादात श्रुतम श्रुतवान का व्यासी की कृपा से मैंने सुना उन्होंने दिव्य चक्षु दी थी मुझे उसी कृपा से सुना एतद एतद ये जो संवाद को यहाँ एतद तपुषण कहते पुलिंग में परिणत करना है एतम संवाद ऐसा हो गया एतद का गुह्यम गोपनीय है संवाद समाज को कहने लायक नहीं है योग्य शिष्य को बताने लायक संभव है वो नहीं है गुह्यम अहम श्रुतवान मैंने सुना परम गुह्यम कहा परम गुह्य गोपनीय है संवाद अधिकारी मिलने पर भी उपदेश के योग्य है संवाद योगम संवाद रूपी योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद रूपी योगम योग यही है संवाद योगम योगेश्वरात योग योग का जो ईश्वर है भगवान योगों का ईश्वर भगवान है योगेश्वर कृष्णार्थ योगेश्वर जो कृष्ण है साक्षात कथा तो साक्षात है परंपरा से सुनी नहीं मेरे बात सुनवा साक्षात सुना भगवान कृष्ण के मुख सुना व्यास की कृपा से भगवान बोल रहे मैं सुन रहा हूं भगवान अर्जुन का संवाद हो रहा वहां मैं सुन रहा हूं साक्षात कथित कृष्णार्थ कथित कहा साक्षात कथन करने वाले कृष्ण के बुकार बिंदु से मैंने सुना है ठीक है ठीक है बताते व्यास प्रसाद आप दिव्य चक्षु लाभा व्यास तो किसी के पास है दिव्य चक्षु प्राप्त हो गई थी मुझे माने व्यास जी आए थे तो धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु देने के लिए धृतराष्ट्र संबंधी होते हैं व्यास जी के संबंधी होते हैं तो अपने पुत्रों की लड़ाई देखना चाहे तो देख ले व्यास जी के मन में हो गई देखना चाहे तो देखे जीवन भर अंधा रहा तो आए व्यास जी ने कहा अगर आप चाहते हो मैं दिव्य चक्षु धृतराज ने कहा मैं जीवन भर तो अंधा रहा या अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों को लड़ाई देखना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा हाँ आप संजय को दीजिए मैं उसके मुख से सुनूंगा क्या क्या घटना घटती हुआ ऐसा कहा तब संजय को दे गए थे तो व्यास प्रसादा तत्व मैंने उस व्यास की कृपा से दिव्य चक्षु लावा दिव्य चक्षु प्राप्त किया मैंने श्रोतवान मैंने सुना उसी दिव्य चक्षु की बात से सुना दिव्य चक्षु व्यास की कृपा से है एतम संवादम कहा वहां एतत् था उसका अर्थ एतम कर दिया वास्तव पुलिंग में कर दिया वहां एतत् पुरुषों में प्रयुक्त था मूल में एतम संवादम गुह्यम गोपनीय संवाद अहम मैं श्रुतवान मैंने सुना यह अर्थ होता है परम योगम परम परम संवाद है परम गुह्यम संवाद वाले योगम योगार्थत्वाद संवाद में योगम परमात्मा प्राप्ति के साधन है योग के लिए है इसलिए यहां योग बोल दिया इसको योगार्थत्वात योगम कहा यह संवाद को योग कहा गया है क्यों योग के लिए है परमात्मा प्राप्ति के लिए है आत्म प्राप्ति के लिए संवाद योगम एवं आत्मा योगी है ये संवाद नहीं योगी है योगेश्वरात कृष्णार्थ योगेश्वर कृष्ण के मुख से मैंने सुना साक्षात परंपरा से नहीं साक्षात सुना है अथयत कथन करते हुए भगवान के मुख से मैंने सुना स्वयं न परंपरागत का स्वयं भगवान के मुख से कथन करता करते हुए उन्हीं शब्दों को मैंने सुना परंपरा से आया हुआ नहीं ठीक है <clears throat> एतत् पदम संवाद पर पुलिंग है मूल में जो एतत् दिया है एतत् गुयम हम परम नपुंसक में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यहां पर संवाद पर के संवाद में एतत् को लगाना है तो एतत् तो नपुंसक संवाद से पुलिंग तो भेदकरण होगा लिंग में भेद आ जाएगा तो विशेषण विशेषण एक ही लिंग होना चाहिए इसके लिए संवाद का विशेषण होना एतम करना चाहिए पुलिस को बोलना मानना चाहिए उसको ये कहा परम पुरुषार्थ औपयुक्तवाद परमत्व कहा परम क्यों कहा परम पुरुषार्थ के उपयोगी है परम पुरुषार्थ का मोक्ष है धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष परम पुरुषार्थ होता है जो जीवात्मा चाहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष परम पुरुषार्थ के उपयोगी होने से पर परम कहा परमम करके बोला था परम करके बोला परम पुरुषार्थ के उपयोग परम संवाद मैंने उसके उपयोगी है कौन संवाद परम पुरुषार्थ मिलेंगे संवाद के माध्यम से मोक्ष मिल रहा है इसलिए उसको भी परम विशेषण लगा दिया संवाद को कहा परम गुह्यम अतिशय न गुह्यम रहस्य उदिवा गुह्य मैंने अतिशय गोपनीय है रहस्य एकांत में करने लायक है समाज में नहीं जन समाज के लायक नहीं है योगो ज्ञानम कर्मचा या योग मानी क्या है योगेश्वर में योग लेना ज्ञान और कर्म निष्काम कर्म आगे ज्ञान साध्य साधन भाव एक योग है यहां योग माने ज्ञानम कर्म से तदर्थत्वा अयम संवाद हो योग ज्ञान कर्म के लिए संवाद है यही दो उपदेश है जब आत्मबुद्धि शरीर में है यदि तब तक तो कर्म करो और आत्मबुद्धि हट गई तो ज्ञान निष्ठा में रहो कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा दो ही उपदिष्ट हुआ यही संवाद यही है संवाद में दो ही निष्ठा होते किए जाते हैं गीता में क्या देखे जाते हैं कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा यही है इसलिए इसको भी योग कह दिया संवाद को योग कहा मान दो कर्म या ज्ञान को बता रहा है संवाद इसलिए इस संवाद को भी योग बोल दिया ये कहा अथवा अथवा चित्तवृत्ति विरोध को योग कहते हैं पतंजलि चित्त योग चित्तवृत्ति निरोध अथवा चित्त वृत्ति निरोध से योग से अंगत्व तो वो भी एक का अंग है अष्टांग योग का एक अंग है क्या है वो चित्त वृत्ति का निरोध योग से चित्त चित्तवृत्ति के निरोध योग का अंग संवाद योग संवाद ये भी वृत्ति के निरोध के साधन बन रहा है संवाद तो अष्टांग योग के एक साधन बन रहा है इसलिए योग का अर्थ ये संवाद को योग माना जाता है उस स्थिति से भी संवाद में इत्यादि कहा था योगानाम ईश्वरों योगेश्वर योगों का जो ईश्वर होगा उसको योगेश्वर कहते हैं ठीक तो है तद अनुग्रह हेतुत्वाद क्योंकि योगों के अनुग्रह के कारण योग बताने वाले हो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा बताने वाले हैं योगेश्वर कहा उनका उसके अनुग्रह के कारण होने से हेतुत्वाद योग तत्फल हो उसके फल में भी योग है तथा साक्षात अभ्यधान सुतवान मैंने उसका फल भी सुना कर्मनिष्ठा का फल ज्ञान निष्ठा का फल साक्षात मैंने सुना भगवान से न परंपरा या मैंने परंपरा से नहीं सुना साक्षात भगवान के मुखारबंद से निकली हुई वाणी को मैंने सुना जो बता रहे हैं भगवान योगेश्वरात इत्यादि कहा स्वयं स्वेन पारमेश्वरेण अतिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य रूपेण कथा योग व्याख्यान करते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है साक्षात कथा है स्वयं का कथा स्वयं अपने आप भगवान के द्वारा कही हुई वाणी मैंने सुना है ये संवाद स्वयं स्वयं पारमेश्वर जो परम ईश्वर रूप है निर्विशेष रूप जो भी और अतिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य रूप है जिसमें ज्ञान ऐश्वर्य आदि होते हैं उसको तिरस्कृत नहीं किया उसी रूप से है ज्ञान आदि रूप से कथा तो व्यास के साथ ऐसे कथन करने वाले भगवान है कथन करते हुए से मैंने सुना है कि कहा है यथोक्तम हम भगवता स्तुत्व क्यों उपेक्षा से रहते हैं भगवान के द्वारा यह संवाद सुना तुमने कृष्ण अर्जुन का संवाद सुना जो भी सुना तो क्यों उपेक्षा क्यों नहीं करते उसकी जाने दो तो उपेक्षा कर दो उसकी तो अभी तक कहा हुआ को गैरअंदाज कर दो क्यों किमर उपेक्षा से उसकी उपेक्षा क्यों नहीं करते हो संजय को पूछे तो होता राजन इत्यादि मैं उपेक्षा कर नहीं सकता हूं ये कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम केशवार्जन पुण्यम हृष्यामी च राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम केशवार्जन पुण्यम हृष्यामी च मुहुर्मुहो संजय कह रहे हैं हे राजन हे धृतराष्ट्र राजा को सुना रहे हैं संजय बात संजय राजा को सुना रहे हैं वहां से देखते हुए यहां सुना रहे हैं वहां का संवाद यहां बता रहे हैं राजन संस्कृत से हे राजन उसको स्मरण कर करके संवाद में जो भगवान के जो संवाद है अद्भुत संवाद है आश्चर्य में डालने वाला संवाद अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है मन स्मरण कर करके संस्कृत्य संस्कृत्य सम्यक स्मृत्य संस्कृत प्रत्यय स्मरण कर करके याद कर करके केशवार्जुन में पुण्यम संवाद है केशव भगवान और अर्जुन दोनों पुण्य संवाद है इसको याद कर करके श्याम तो मुहूर्त बार बार मुहूर्त बहु बार बार मुहूर्त अव्यय है घोष अव्यय है मुहूर्त बहु बार बार श्याम में हर्षित होता हूं मेरा पुण्य का फल है यह संवाद सुनने को मिला मैं बहुत हर्षित होता हूं ये कहा टीका में है पुण्यतम थे भाष्य है भाष्य बताना है हे राजन धृतराष्ट्र हे राजन का अर्थ धृतराष्ट्र का संबोधन कर रहे हैं संजय संस्कृत संस्कृत संवादम इस संवाद को याद कर करके बार बार याद आते याद याद याद कर करके इमम संवादम अद्भुतम मैंने आश्चर्य मिलाने वाला संवाद है यह केशवार्जुन यो केशव अर्जुन का संवाद है कैसे संवाद पुण्य पुण्य संवाद है ये श्रवाद पे पाप और शून्य मार्ग से पाप आरण करने वाला संवाद है संवाद कैसा है सर्वणाद सर्वण मात्र से भी जान समझ लिया तो अलग बात सर्वण मात्र से पाप करना कर पुण्य पाठ मानते हैं ना सर्वण से पुण्य होता है पाप श्रुत्वा ऐसे संवाद को सुन करके ऋष्यामी से मुहूर् का प्रतीक्षा मुहुर्व प्रत्यक्षण में हर्षित होता हूं मैं उपेक्षा कर नहीं सकता इस संवाद को क्षण क्षण क्षण क्षण प्रति प्रतिक्षण अव्यवहार समाज लगा दिया प्रत्यक्षण मैं हर्षित होता हूं मुहूर् मुहूर् मुहुर हर्ष्याम हृष्याम ये कहा ठीक है भाई पुण्यतम सर्वात भी कहा पुण्य तो क्या है ये संवाद में पुण्य तो क्या है सर्वात भी पाप और में कहा मात इसमें पाप को हरण करने वाला संवाद है ये भगवान कृष्ण यद तो विश्वरूपाख्यम रूपम सगुणम अर्जुनाय भगवान दर्शितवान ध्यानार्थम तद इधान भूतवती उपासना के लिए जो एकादश अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को उपासना के लिए चंद्र उपासक के लिए कोई ना कोई एक आलम्बन चाहिए तो एक आलम्बन दिया था भगवान को एक उस निर्विशेष रूप में नहीं देख सकते इस रूप में देख लो सारा संसार परमात्मा यह देखोगा सही है हम्म। सारा संसार परमात्मा देखो सारा संसार रूप था वो सर्वरूप सही है विश्व और सर्व पे अंतर होता नहीं एक ही है विश्व बोलो सर्व बोलो एक पर्यावाचक शब्द है वो यद तो रूप आख्य मुझे रूप का सर्वरूप नामक जो रूप है भगवान ने सगुणम सगुण रूप था कैसा रूप था निर्गुण रूप को नहीं दिखाना संभव नहीं निर्गुण रूप को अनुभव का विषय निर्गुण रूप ये उपास्य होता है सगुण रूप अर्जुन आया भगवान दर्शवान अर्जुन ने भगवान को अर्जुन के लिए दिखाया किसके लिए ध्यानार्थम उपासनार्थम उपासना के लिए रख दो किसके लिए रखा तब तद इनाम उस रूप की प्रशंसा करते हैं कौन संजय तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामी च पुनः पुनः तच संस्कृत संस्कृत रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्म में महाराजन च पुनः पुनः तद रूपम वो जो रूप है एकादश अध्याय में प्रदर्शित किया तो तत् मन रूपम वो रूप विश्व रूप संस्कृत संस्कृत बार बार याद कर करके तद रूपम वो रूप जो है आकार जो भगवान दिखाया था अति अद्भुतम हरे हरि का भगवान का षष्टंत्र हरे हरि भगवान जो है उनके अति अद्भुतम अति अद्भुत अति आश्चर्य में डालने वाला था वो कौन वो विश्वरूप जो दिखाया था ध्यान के लिए साधकों को उपासना के लिए आलम्बन चाहिए आलम्बन नहीं रह सकता साधक विस्मय महाराजन हे राजन मैं विस्मृत होता हूं मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं महाराजन मेरे में आश्चर्य आता है रूप को याद कर करके में तो पुनः पुनः बार बार बार हर्षित होता हूं उस रूप को याद करके संवाद को याद करके भी हर्षित होता हूं और रूप को देख करके भी हर्षित याद करके तो एकादश अध्याय में तो दर्शाया गया रूप है उस रूप को देखकर याद कर मैं हर्षित होता हूँ बार बार हर्षित होता हूं कहा भाष्य में कहते तच्च संस्कृत संस्कृत तत् माने रूपम वो जो रूप है ना एकादश तत्पूर्व परामर्श ही है एकादश अध्याय को परामर्श कर रहा है तत्व संस्कृत संस्कृत उसको याद कर करके स्मरण कर करके रूपम तद रूपम अति अद्भुतम अत्यंत अद्भुत रूप था आश्चर्य में डालने वाला रूप था वो हरे किसका रूप था वो हरि का हरि भगवान विष्णु विश्व रूपम कौन रूप है विश्व रूप है जो एकादश अध्याय में दिखाया है विस्मय महाराज महाराज धृतराष्ट्र संबोधन करके बोल रहे हैं महाराज मैं विस्मय जाता हूं मेरे विस्मय हो जाता हूं मैं हर्षित आश्चर्य होता हूं में जब पुनः पुनः बार बार मैं हर्षित होता हूं उसको याद करके उसे कहा ठीक है द्वयोर भी कृष्णार्जुनयोर नारायण देखो एक नर है एक नारायण है सत्ययुग में दोनों तपस्या करते थे भद्रिकाश्रम में नर नारायण दो पर्वत आज भी बोलते हैं भगवान जिस तरफ भगवान के विग्रह है मंदिर है वो नारायण पर्वत और जो कंचन गंगा की तरफ सामने जो नर आए वो नर पर्वत अभी भी बोलते हैं लोग एक एक पर्वत में बैठ करके अर्जुन और कृष्ण तपस्या की थी पूर्व तो काल द्वयोर भी ये दोनों का संवाद है एक गीता कृष्णार्जुन जो कृष्ण और अर्जुन का उनके विशेषण नर नारायण और नर नारायण अर्जुन नर है भगवान नारायण है संवाद से जो संवाद है प्रामाणार्थम ये प्रमाणित है ये संवाद कपोल कल्पित नहीं है जो कहा बिल्कुल सत्य है प्रामाणिक है क्यों एक नर है एक नारायण है ये तो, हाँ, दोनों दोनों हाँ, प्रामाण्य के लिए माने गीता में प्रामाण्य लाने के लिए परम उत्कर्षम दर्शे थे परम उत्कर्षता दिखाई संवाद में परम उत्कर्षता थे कौन संजय यहां भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहाँ अर्जुन होंगे धनुर्धारी अर्जुन होंगे वहीं स्त्री है वहीं विभूति है और नीति है सभी वही है विजय वही है ये चार बातें बताएंगे गीता में ब्राह्मण दिखाने के लिए ये बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिरबीजो भूतिर्ध्रुवादितिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सिरबीज भूतेर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर होगी जिस पक्ष में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जिस पक्ष में दो पक्षों में सेना खड़ी है पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण योगों का ईश्वर जो कृष्ण जिस पक्ष में हो यत्र पार्थो धनुर्धर तो धनुर्धारी धनुर्धर विशेषण पार्थ अर्जुन को लगता है तो यत्र जिस पक्ष में अर्जुन हो धनुर्धर अर्जुन कैसा अर्जुन उसका विशेषण है धनुर्धर विशेषण और किसी का नहीं होता है अर्जुन का ही प्रयोग होता है अर्जुन में भी धनुर्धर शोधक प्रयोग होता है ये जो धनुष आग्रह करने वाला और भी है धनुर्धर तो वही है ऐसा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवाद्र मधुर रहा उसी पक्ष में तस्मिन एवं पक्ष श्री लक्ष्मी उसी वही है विजय जय भी वही है जहां श्री कृष्ण भगवान है जहां धनुर्धर अर्जुन है योगेश्वर कृष्ण जहां वही श्री मान लक्ष्मी वही है और विजय भी वही है अन्यत्र पराजय होगा भूति माने वही जो स्त्री का ही विस्तार है भूति ऐश्वर्य और ध्रुवा नीति ही निश्चित संविधान भी वही है नीति मान संविधान होता है संविधान का उल्लंघन तो नहीं करेंगे दूसरे पक्ष कर सकते हैं जो नीति भी वही है वो नीति नहीं छोड़ेंगे दूसरे अनिति कर पाए कर जाएंगे नीति नहीं छोड़ेंगे नीति मानी मार्ग होता है चलने का मार्ग को नीति बोलते हैं यह प्रापण धातु है तीन करके नीति बनाया हुआ है ये मेरे मति है मेरी बुद्धि ऐसे बोलती है कहते हैं मम मती ही ये मेरी बुद्धि है क्या क्या बुद्धि मेरी बोलती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण है जहाँ धनुर्धर अर्जुन है वहीं पर स्त्री है लक्ष्मी है वहीं विजय है वहीं भूति माने लक्ष्मी का विस्तार को माने भूति बोलते हैं और दुर्बार रीति भी वही थाई रीति कैसी रीति थाई रीति वो वही है मैंने गीता को प्रमाणित करने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन राम लेके ऐसा बोलते हैं विजय यदि इसी पक्ष में होगा बोलते हैं यही है यत्र माने यशमिन पक्षे पांडव पक्ष कौरव पक्ष दो तो पक्ष है यहां लड़ाई के लिए यह त्रयस्मिन पक्ष है योगेश्वर सर्वयोगा नाम ईश्वर योगेश्वर संपूर्ण योगों का ईश्वर है जो भगवान तत्प्रभवत्वाद सर्वयोग विजय से कृष्ण कहा माने सारे योग उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं बीज वही है सारे योगों का बीज कौन भगवान श्री कृष्ण है सर्वयोग बीज से जितने बीज योग होते हैं सभी बीजों का योगों का बीज है भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं यत्र हो मानी जिस पक्ष में यत्र मन यशमिन पक्षे पार्थो धनुर्धर धनुर्धर जो पृथा पुत्र अर्जुन है गांडी बधनवा जो गांडी धनुधारी करने वाला तत्र उसी पक्ष में श्री माने लक्ष्मी तस्मिन नाम पक्ष विजय वही पांडव के पक्ष में विजय श्री विजय भूतेन्द्र विजय का उसी पक्ष में विजय है श्री कृष्ण किस पक्ष में पांडव के पक्ष में अर्जुन कहा है पांडव के पक्ष में उसी का विजय होगा श्री भी वही होगी तत्र भूति उसी पक्ष में भूति भी है भूति माने स्त्रीय विशेष जो स्त्री पहले जो कहा था उससे विषय विस्तार है ये भूति ऐश्वर्य विशेष विस्तारवाद भूति का तो उसी स्त्री का ही विस्तार को भूति करके बोला ध्रुवा नीति भूति वही है विस्तार को भूति का ध्रुवा अव्यविचारी नीति व्यविचार करने वाले न्याय नहीं वहां अव्यविचारी युक्ति है उनके पास नीति है उसी पक्ष में नीति माने नया मार्ग होता है ये भगवान श्री कृष्ण जहां है अर्जुन जहां है वहां व्यविचार नहीं होगा न्याय विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे नीति विरुद्ध कार्य भी नहीं करेंगे जैसे युद्ध की नीति होगी उसको छोड़ेंगे नहीं वो त्यागेंगे नहीं अन्य छोड़ देंगे ऐसी स्थिति ये मति मम मति मेरी बुद्धि ऐसी मानती है करके संजय कहा टीका तो में कहते हैं कथम सर्वेशम योगानम ईश्वर भगवान सभी योगों का ईश्वर कैसे है भगवान कहते अरे बाबा ईश्वर का बीज है ना तो बीज क्या होता है स्वामी होता है वृक्षों के स्वामी कौन है बीज है जितने योग होते हैं सब योग का बीज है भगवान वहीं से निकले सारे योग ठीक है कथम सर्वेशम योगानम ईश्वर भगवान भगवान सभी योगों का ईश्वर कैसे बनते हैं तथा तत्प्रभवत्वा कहते सारे योग तस्मात प्रभुवत तत्प्रभ भगवान से उत्पन्न है सारे बीज वही है ठीक है सर्वयोगो ज्ञान कर्म सब योग क्या है ज्ञान और कर्म दो योग है ये भगवान से उत्पन्न है दोनों ज्ञान भी कर्म भी सर्वयोग ज्ञान कर्म तस्य बीजम शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य आदि कहते हैं तो उसका बीज होगा ज्ञान और कर्म लौकिक ज्ञान और कर्म जो होता है उसका बीज क्या होगा शास्त्रीय ज्ञान और वैराग्य आदि लौकिक कर्म से वैराग्य जब तक रहो तब तक शास्त्रीय कर्म करेगा नहीं वैराग्य होना चाहिए और लौकिक ज्ञान से जब तक विरक्त हो तब तक शास्त्रीय ज्ञान होगा नहीं उनसे ही होते शास्त्रीय होते बीज तद्धि भगवत अधीनम ये जो ज्ञान कर्म भगवान का अधीन है भगवत अधीनम तद अनुप्रवीण से तद होगा जो शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य होता है भगवान की कृपा के बिना नहीं हो पाता वो भगवान का अधीन है जो ज्ञान वैराग्य आदि ज्ञान और कर्म के बीज हो होते हैं वो वो भगवान का दिन है ज्ञान वैराग्य होना तद अनुग्रह भी न भगवान का अनुग्रह जिसको प्राप्त न हो उसके तद अयोगात ज्ञान वैराग्य जीवन में आना संभव नहीं है योग्य साधना के लिए दोनों को पक्षी माना गया है पक्षी के समान है वैराग्य बोध पुरुष से पक्षीवत पक्षों भी जाना ही विचक्षणत्व ये विवेक चूड़ा ने कहा है वैराग्य और बोध परोक्ष ज्ञान होना चाहिए भगवत विषय नहीं तो साधन नहीं कर सकता अभी बिल्कुल अज्ञान काल में नहीं हो पाएगा परोक्ष ज्ञान होना चाहिए और संसार से वैराग्य होना चाहिए ये दो हो तो साधन में लगेगा भगवान का ज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान के लिए साधन करेगा परोक्ष ज्ञान हो वैराग्य विश्व से वैराग्य हो भगवत समिति परोक्ष ज्ञान हो तब साधन में लगता है व्यक्ति यह साधन के कारण साधन यही होते हैं वैराग्य और बोध तत्प्रभुत्वात बोल दिया था अहम अच्छा आगे श्री तत्र तत्र श्री विजय भूतिर श्री माने लक्ष्मी और विजय माने परम उत्कर्ष जिस पक्ष में श्री कृष्ण भगवान है जिस पक्ष में गांडी धनुष अर्जुन है उसी पक्ष में श्री है लक्ष्मी है और उसे विजय माने परम उत्कर्ष वही है आगे कहते हैं राज्यों धृतराष्ट्र से स्वपुत्र से विजय आसाम शिथिली कृत्य राजा को जो राजा धृतराष्ट्र है ना उसके अपने पुत्रों के ऊपर विजय की आशा थी क्या थी तो संजय क्या कर रहे उसको शिथिल कर देते हैं आशा नहीं करना तुम्हारे पुत्र को विजय होने वाले नहीं क्यों यत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ होगा ऐसे बोल दिया हम वही श्री है वही विजय है भूति है वही लक्ष्मी राजो ष्टम है राजा जो धृतराष्ट्र है उसका स्वपुत्र से विजय आशा हम विजय की आशा थी मेरे पुत्र जीतेंगे क्यों मेरे पुत्र बहुत है ग्यारह अक्षर में सेना है हमारे पास दूसरी बात सात है सेना कम है और हमारे पुत्र एक सौ एक भाई हैं और वो पांच है मेरे से भी गिनती में कम है वो मेरा पुत्र मेरे पुत्र की आशा थी राज्य और धृतराष्ट्र से स्वपुत्र से विजय आशा हम शिथिल करते राजा का जो धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों में विजय की आशा थे संजय ने शिथिल कर दिया ढीला कर दिया के लिए कृपया पांडवेशु जय प्राप्तिकम प्राप्तिम ऐकांतिक अवसर अवश्यम भावी है पांडवों के जय ये यहां उपसंहार करते हैं क्यों जहां पर भगवान कृष्ण हो जहां अर्जुन हो वहीं श्री है वहीं विजय है वहीं भूति है वहीं नीति भी वही है एक पक्ष में सिद्ध कर दिया तो पांडवानाम जय प्राप्तिम ऐकांतिकम व्यविचारी नहीं है अवश्य जय प्राप्त होना विजय होनी जो होगी ये घोषित कर दिया मेरा मेरी बुद्धि ऐसी कहती करके इतम इत्यादि कहा था इतम मतिर्वम ये मेरा मंतव्य है उपाय उपेय भावे न निष्ठाद्वेश प्रतिष्ठापित तत्वाद कर्म निष्ठा परंपराया ज्ञान निष्ठा हेतु ज्ञान निष्ठा तो साक्षा मुक्त हेतु शास्त्र उपसंभ्रम इति भाष्य में भी इति शब्द दे दिया इति मते मम कहा था इति अंतिम इति है तो शब्द किसके लिए जा कहते हैं इस प्रकार बोलने के लिए है उपाय उपाय वेदन उपाय है कर्मनिष्ठा उपेय है प्राप्य है ज्ञान निष्ठा उपाय उपाय वेदना दो निष्ठा है कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा जिसका हम कर्म है मैंने उपाय ज्ञान के उपाय होते हैं और उपेय होता है प्राप्ति होने ज्ञान की उपलब्धि ज्ञान की होने उसके माध्यम से उपाय उपेय उपेय भावे निष्ठा दो निष्ठा जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा है दोनों प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठित हो गया दोनों निष्ठा है गीता के सारा संपूर्ण ये दो निष्ठा में गीता का तात्पर्य है कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा यदि देहादि में आत्मबुद्धि है तब तो, निष्काम भाव से कर्म करो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो शास्त्रीय कर्म करो यदि देहात्म बुद्धि समाप्त है आत्मभाव में बैठो यही दो ही बातें पता है तो उपाय उपाय उपेय वेदना उपाय होता है साधन उपेय होता है साध्य साध्य साधन भाव है ज्ञान और उपाय कर्म निष्ठा जो ऐसे प्रतिष्ठापित है दोनों निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा प्रतिष्ठापित हो गई होने से कर्मनिष्ठा परंपरा या ज्ञान निष्ठा है कर्मनिष्ठा सीधा सीधा कर्म करने से सीधा ज्ञान नहीं होगा परंपरा से होगा क्या होगा कर्म निष्काम भाव से कर्म करने से अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होने पर विश्व से वैराग्य होगा विश्व से वैराग्य होने पर वेदांत आदि में मन लगेगा अपने बारे में सोचेगा मैं कौन हूं क्या हूं तत्पश्चात वेदांत सुनने के बाद उपनिषद सुनने के बाद ज्ञान हो परंपरा से निष्ठा हेतु है साक्षात नहीं है मोक्ष के हेतु हैं कर्मनिष्ठा किस पर परंपरा से और ज्ञान निष्ठा तो साक्षात है मोक्ष हेतु ज्ञान निष्ठा साक्षात मोक्ष हेतु है कर्मनिष्ठा परंपरा से मोक्ष का कारण है और ज्ञान निष्ठा साक्षात मोक्ष का कारण है इति शास्त्रार्थ ये गीता शास्त्र का तात्पर्य यही है शास्त्रार्थम उपसमर्थम ये शास्त्र गीता शास्त्र के विषय के सम उपसंहार करते कि इति उत्तम इसलिए इति का उपसंहार करने के लिए कह दिया इति लगा दिया भाष्यकार ने इति गीता का सारा सारांश ही है दो निष्ठा एक परंपरा से मोक्ष में निष्ठा है और साक्षात कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा गीता में यही उपदेश है दो निष्ठा का उपदेश है ये बताया गया आनंद गिरी जी है ना टीकाकार वो मंगलाचरण करते अंतिम में पहले भी करके आए शुरू में भी अभी मंगलाचरण कांडत्रयात्मक अनुशास्त्र पदवाक्यार्थ गोचरम आदिमध्यांत मध्यांत सर्केशु व्याख्याया गोचरी कृतम संक्षेप विस्तराभ्याम यो लक्षाइरुपादित चौथोन्तिमेन संक्षिप्य लक्षणेन विवक्षितः गीता शास्त्र महारणमोर्थम महारणमोर्थमपितम वैकुंठ कंठोद्भव कंठ परनाम निष्ठा निष्ठा यत्र प्रसाद जनने साक्षात्तम कुरती पर्यवसाप्यते प्रतिदिन सेवत्व में तदबुधा प्राचार्यमाचार्य पादाना पदवीम अनुगछता गीताभाष्ये कृता टीका टीकता परमेश्वर कांड त्रयात्मक सारी गीता शास्त्र तीन कांडों में तीन खंडों में है छह छह अध्याय का तीन खंड है प्रथम अध्याय से ष्ठ अध्याय तक प्रथम खंड एक खंड कांड में खंड होता है और सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय द्वितीय खंड है और त्रयोदश अध्याय से लेकर अष्टादश तृतीय खंड कांड त्रयात्मक तीन कांड में गीता विभक्त है शास्त्र में गीता शास्त्र पदवाक्यार्थ गोचर में कहते हैं गीता शास्त्र किसको विषय करता है तत्वमसी को विषय करता है तत्व असी तीन पद को विषय करता है प्रथम शब्द का जो होगा त्वम पद का विषय करता है आत्मा को लेकर के चल रहे थे देही नित्य मुपोद्रेयम देह सर्वस्वार्थ आदि देही देही देह वाला आत्मा तुम पद का विषय कर रहा था वो तब तो विषय जो तुम पद का जो लक्ष्यार्थ होता है उसको विषय कर रहा था और सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक जीव के बारे में चर्चा नहीं है जीवात्मा ईश्वर के बारे में चर्चा है मैं आता तदम विश्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना इत्यादि मेरे द्वारा जब अव्यक्त मूर्ति हूं मेरे द्वारा सारा जगत व्याप्त है ईश्वर भाव से बोल रहे थे भगवान वहां जीव भाव से नहीं बोल रहे थे सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक मैंने उपास्य रूप में थे वो तो <clears throat> और त्रयोदश अध्याय से आगे अष्टादश अध्याय ऐक्य विषय बात अशी अस्सी पद का विषय के वाक्य था ऐक्य हम्म। क्षेत्र गमचा इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत यहां से लेकर गीता भी यही है तत्व असी जो तीन पद महावाक्य हैं छांदों के परिषद महावाक्य है उसी को विषय करने गीता है कहते हैं ये बोल रहे हैं आनंद जी कांड त्रयात्मक शास्त्र गीता शास्त्र तीन कांड स्वरूप है यह पद वाक्यार्थ गोचरम पद और वाक्यार्थ दो तो पद को विषय करने वाले हैं कौन दो खंड प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द तृतीय शब्द का जो होगा तत्वशी का वाक्य वाक्य वाक्य पद जन जो वाक्य का ज्ञान होगा लक्षार्थ उसको विषय करने वाला आदि मध्याध सड़क छोड़ आदि सड़क मध्य सड़क अंत सड़क तीन सड़क है इसमें तीन तीन छह छह अध्याय का तीन भाग किया हुआ है प्रथम सड़क में जीवात्म रूप से त्वम पद का अर्थ का विवेचन है द्वितीय सड़क में ईश्वर का विवेचन है तत्पद का वहां तत्पद आया हुआ है और तृतीय सड़क जो त्रयोदश अध्याय से लेकर ऐके का विषय है गीता व्याख्या या गोचर तो इसी व्याख्या को विषय बनाया गया है गीता ये शास्त्र संक्षेप विस्ताराभ्याम में लक्षण रूपा प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग में संक्षेप और विस्तार के द्वारा कहा था जो विषय का निर्धारण किया है संक्षेप में अथवा विस्तार से प्रथम और द्वितीय में स्वर्थोन्त में संक्षिप्त लक्षण विवक्षित कर आगे वही अर्थ दोनों का अर्थ जो संक्षेप विस्तार से दो दो का कहा था पहले उसी को अंतिम प्रकरण के द्वारा तेरह से अठारह तक त्रयोदश से अष्टादश तक अंतिम जो क्षण का होता है उसके द्वारा संक्षिप्त लक्षण संक्षिप्त से कहा है उस विषय को वाक्य के रूप में कहा है गीता शास्त्र महार महारणवोर्थम अमृतम उत्तम अमृतम कहते हैं गीता शास्त्र जो महारणव है महान समुद्र है गीता शास्त्र उसमें निकला हुआ जो अमृत है ज्ञान रूपी ज्ञान अमृत ज्ञान रूपी अमृत है गीता शास्त्र में निकला हुआ वैकुंठ कंठोद्भवम वो अमृत कहां से वैकुंठ बने भगवान विष्णु को वैकुंठ कहते हैं कुछ प्रतिघाते धातु है कुंठापन प्रतिघात नाश विगता कुंठा इसमें जिससे कुंठा नहीं रही प्रतिघात नहीं नाश नहीं होता जिनका जिनका ज्ञान का नाश नहीं होता जिनके स्थान का नाश नहीं होता उसको कहा जाता है विकुंठा ऐसे भगवान होते हैं उसको वहां प्रज्ञा दिव्य सूत्र है स्वार्थ में अण प्रत्यय कर देते विकुंठाक्ष अण करेंगे तो वैकुंठ बन जाएगा माने बंधुरे व बांधवा इत्यादि होता है बंधु को ही बांधव कहा जाता है बांधव और बंधु में भेद नहीं होता यदि एक बार प्रत्यय ज्यादा लगा हुआ है बांधवों में स्वार्थ में है इस प्रकार विकुंठा सत्य से स्वार्थ मान करके वैकुंठ बना दिया भगवान के ज्ञान का नाश नहीं होता भगवान के स्थान का भी नाश नहीं होता तत्वा सहित सूर्योटा सिद्धांत को न पावग्रह यदगत्वा थे तद धाम परम बोल के आए अरे भगवान का स्थान ऐसा स्थान है मैंने जहां तक सूर्य चंद्र की गति है जहां अग्नि की गति है प्रकाश होता हो वो स्थान भगवान का जो नाशवान होते हैं स्थान तो सूर्य भाव प्रकाशित नहीं कर सकता इस स्थान को चंद्र प्रकाशित नहीं करता अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता ऐसे स्थान मेरा होता है ऐसा पंचदश अध्ययन कहा था तो गीता शास्त्र महारण है महान समुद्र है गीता रूपी शास्त्र उनमें से भगवान ने अमृत निकाला है मंथन करके अमृत निकाला है वैकुंठ हो गए ये अमृत कहां से निकला वैकुंठ के कंठ से उद्भव है उत्पन्न है अमृत ज्ञान रूपी अमृत श्रीकंठ अपरणाम अपनमृतम कहते हैं अमृत को दो विभाग करके श्रीकंठ के अपरणाम श्रीकंठ भगवान शंकर उसके अपरणाम शंकराचार्य श्रीकंठ का पर्यायवाचक शतक श्रीकंठ शब्द का शंकर भगवान होते हैं उनके पर्यायवाचक शंकर शंकराचार्य श्रीकंठ अपरनाम वन अपर नाम वाले जो गुणी है कौन मनाथ मुनि शंकराचार्य है उनके द्वारा किया हुआ निष्ठा या द्वयतम उन्हें दो निष्ठा का प्रतिपादन किया है कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा शंकराचार्य ने गीता शास्त्र के ही सिद्धांत निकाला है निष्ठा यत्र मते प्रसाद है एक निष्ठा ऐसी बुद्धि प्रसन्न को प्रसन्न स्वच्छ करने वाली है शुद्ध करने वाली कौन निष्ठा कर्म निष्ठा साधन अवस्था की हो निष्ठा तो जो निष्ठा है जिसमें मति प्रसाद जन मति मानी बुद्धि बुद्धि को प्रसन्न करना स्वच्छ करना शुद्ध करने वाली बुद्धि को शुद्ध करने वाली निष्ठा है साक्षात कृतम कुर्वती दूसरी निष्ठा साक्षात्कार करती हुई निष्ठा है कौन सी निष्ठा ज्ञान निष्ठा मोक्ष परिवसात्यति प्रतिदिन ये क्या है मोक्ष में परिवसान होते दोनों से अच्छा, कहा हो जाती है अंतिम परिणाम का मोक्ष होता है तो गीता में आयो दो निष्ठा है प्रतिदिन एतद ध्वम कहते हैं इस गीता शास्त्र को एतद गीता शास्त्र बुधा प्रतिदिन से बुद्धवान लोग हैं विवेकी लोग हैं प्रतिदिन इसका सेवन करें गीता पान करें गीता का पान करें यही ये बोल रहे हैं प्राचाम आचार्य पादान पूर्वाचार्य जितने हैं पदवी अनुगछता उनके अनुसरण करने वाली टीका है मैंने जो टीका लिखी है आनंदगिरी टीका हम्म। मैंने मणगण तो कुछ भी नहीं लगा तो पूर्वाचार्यों के अनुकूल चलने वाली टीका है जैसा उन्होंने व्याख्या की है उसी प्रकार की व्याख्या मेरी व्याख्या बोलते हैं प्राचाम आचार्य पाधना पूर्वाचार्य जितने रहे उनका में अनुगछता उनके पद पे अनुसरण करने वाली टीका है टीका अनुगछता गीता भाष्य कृता टीका गीता के भाष्य में मैंने टीका की टीकाधाम परमेश पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम में ये प्राप्ति हुई टीका समर्पण हो गए टिकरी गतव तो धातु है गत्यर्थ धातु तीन अर्थ होता है गताम लोट लगा उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन है भगवान प्रसन्न हो इस टीका के द्वारा बोल रहे हैं तो गत्यर्थक धातु तीन अर्थ गति प्राप्ति ज्ञान गमन प्राप्ति परमात्मा ये प्राप्त करे इस टीका को परमात्मा को हो परमात्मा प्राप्त करे पर वस्तु जैसा है परमात्मा प्राप्त करें पुरुषोत्तम को प्राप्त हो टीका ये कहा इस प्रकार से गीता का संक्षिप्त व्याख्या जो हो गई इसमें <clears throat> जो कुछ भी कुछ अच्छा शब्द निकला हो आरंभ से लेकर अब तक वो तो गुरुजनों का है मेरा नहीं और कोई अपने स्वभाव बस कोई खराब शब्द निकला हो तो मेरा होगा यदत्र सौष्ठवम के चित तद गुरु रे में नहीं यदत्र दौष्टवम के चित तद ममैव गुरु नहीं ऐसा है यहां कुछ अच्छी बातें आई हो तो गुरुजनों का है उनके और जो खराब मेरे स्वभाव बस कोई निकली हो तो मेरे है गुरुजनों को नहीं है इसको खराब शब्दों को लेकर के गुरुजनों को दोष नहीं देना मेरे ऊपर दोष देना सज्जन लोग हंस जमान होते हैं क्षीर निर्विपक करके काम करें ओम सन्नो मित्र भगवत सन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम्